है ना अच्छा अब दो रुपया हम आपको दे देते हैं हमारा भी दो रुपया मिला है ना और फिर क्या करो कि आधे का दान कर दो और जिससे उधार लिया था ना पड़ोसी से उसका वापस कर दो अब आपके मन में एक रुपया बचा हो सबके मन में एक रुपया बचा बोले चाहे आपने कोई भी संख्या ली हो है ना <laughs> सबके मन में एक ही रुपया बचा ज्यादा नहीं ये सब आप जानते हैं अब जब तक हम इसको नहीं समझते थे कि एक रुपया कैसे निकला तब तक हमारे लिए बड़ा भारी चमत्कार था ये साधुओं की बात सुनते हैं ना गृहस्थ लोग तो इनको चमत्कार क्यों मालूम पड़ता है कि तो उनकी जो है ना उसमें जो अकल लगाते हैं साधु लोग जुक्ति लगाते हैं उसको दुनियादार लोग नहीं समझते हैं बस इतनी बात है ये बिल्कुल एक सच्ची एक गणित सिद्ध वस्तु है बोला तो ये जो आत्मा है मेरा मैं तुम्हारा मैं इनका मैं उनका मैं जो असली मैं है झूठा मैं नहीं हाँ, एक तो झूठा मैं माना हुआ मैं है ना नारायण मेरा नाम है बोले मोहनलाल एक कब से है भाई उसके पहले तुम्हारा क्या नाम था जन्म के पहले तुम्हारा क्या नाम था तो रखा हुआ हुआ ना है ना कि तुम्हारी जात है ना ये पिता के बीर्ज में अंगूर में है ना हड्डी मांस जाम कहा था पंचभूत में कहा था है ना सत्ता में कहा था ज्ञान में कहा था नारायण ये सब कल्पना तो सहज स्वभाव से प्रकृति ये है कि आत्मा सबका आकाश के समान है और अनादि है माने व्यापक देश के परिच्छेद से रहित है और अनादि है ये अलग अलग शरीर में धारणात्मक शक्ति बन करके बैठ गया है है ना जैसे बिजली अलग अलग बल्ब में जलती है लेकिन है तो वो एक ना तो विद्यते नहीं नानात्वम तेषाम क्वचन किंचन असल में बिजली में नानात्व नहीं है बल्ब का नानात्व बिजली पर आरोपित होता है इसलिए सबके शरीर में ये हृदय यंत्र है ना दिल की जो मशीन है वो बल्ब के समान है और उसमें एक ही बिजली एक ही बिजली धर्म बन करके धारणा शक्ति बन करके अलग अलग प्रकाशित हो रही है सबके भीतर सबके भीतर एक ही आत्मा है विद्यते नहीं नानात्व नाना नानी सब मर गए बोला तो क्वचन नास्ती किंचन नास्ती कहीं भी नहीं है और किंचित भी नहीं है किंचित माने सजातीय विजातीय स्वगत भेद रूप किंचित भी नहीं है और क्वचन माने किसी देश में किसी काल में और किसी वस्तु में क्वचन देशे क्वचन काले क्वचन वस्तु नहीं किंचन सजातीयम विजातीयम स्वगतम बा नानात्वम न विद्यते कहीं भी नानात्व नहीं है एक अखंड वस्तु है नाना तो मिटाने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है आत्मा सहज स्वभाव से अनादि है और व्यापक है अनादि का मतलब हुआ काल परिच्छेद नहीं है ना और आकाशवत का अर्थ हुआ देश परिच्छेद नहीं और विद्यते नहीं नानात्म का अर्थ हुआ वस्तु परिच्छेद नहीं तो क्वचन और किंचन ये आपकी आत्मा का सहज स्वभाव ही यही है इसके लिए इसके लिए हम आकाश बने इसके लिए भावना करने की जरूरत नहीं है ध्यान करने की जरूरत नहीं है इसके लिए बिल्कुल गला सीधा करने की जरूरत नहीं सिर सीधा करने की जरूरत नहीं एक ये सत्य है ना विद्यते नहीं नानात्व आदि बुद्धा प्रकृत सर्वे धर्मा सुनिश्चिता यम भवते क्षांति मृतत्वाय कल्पते तो अब बताया कि अच्छा बोले ज्ञान तो इसका प्राप्त होना चाहिए और शांति मिलनी चाहिए और अमृतत्व तो मिलना चाहिए तो ये चाहिए चाहिए करके चाहिए चाहिए करके बात बिगाड़ो बात है ना तुमको मैं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस बात को इस बात को बैठा लो है ना परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए तो परमात्मा तो स्वयं हो चाहिए क्या ये आ के सिर पर च की चद्दर लगी तो चा बनी है ना है ना ब्रह्मा ने पहले आ बनाया हो आ आ आ आ, आ समन्ता थन थी चारों ओर से चोट मारे उसका नाम आ तो बेटी जाओ ब्याह कर लो दुनिया में अब दुख देने वाले से कौन ब्याह करे है ना लौट के आई कि पिताजी हमको कोई पसंद नहीं करता बोले अरे बेटी ऐसे ही चली गई थी है ना जरा चकार की चंदर ओढ़ ले अपने मुंह पर चाह बन गई हो है ना चंदर था अब तो महाराज सारी दुनिया कहे चाह बड़ी मीठी चाह बड़ी मीठी चाह बड़ी मीठी वो तो चंदर ओढ़े आ है भला जहां चाह वहाँ आ है ना जहां चाह वहां राह भी होती है बोला जहां चाह वहां राह भी है विद्यते आदि बुद्धा प्रकृत अपना आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है कि जब ज्ञान होगा तब हमारी मुक्ति होगी सो बात नहीं ज्ञान होगा तब हम ब्रह्म होंगे सो बात नहीं आदि बुद्धा आदि बुद्ध है ये जो कहते हैं ये जो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो ये सांवृतिक सत्य है लोक व्यवहार में कोई अपने को अज्ञानी मान बैठा है तो लोक व्यवहार में जब अपने को अज्ञानी मान बैठा है तब उसको ज्ञानी बताते हैं देखो दुनिया में चाहे कण का ज्ञान हो और चाहे अणु का ज्ञान हो और चाहे प्रकृति का ज्ञान हो चाहे ईश्वर का ज्ञान हो ज्ञान अहम को होगा है ना अहम के बिना किसी की सिद्धि नहीं होगी चाहे देश का ज्ञान हो काल का ज्ञान हो वस्तु का ज्ञान हो और हमारा अहम जिसको जानता है उससे तो परे है ना है ना इसलिए देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है ना और कण और अणु और प्रकृति से अपरिच्छिन्न हाँ। प्रकृति और प्रकृति के परमेश्वर से भी अपरिच्छिन्न ये आत्मा का सहज स्वभाव है ये आदि बोधक स्वरूप है इसमें कुछ ज्ञान प्राप्त करने का नहीं है स्वयं ज्ञान स्वरूप है और ये उसका सुनिश्चित स्वरूप है अच्छा बोले भाई ज्ञान तो है लेकिन जरा निष्ठा तो दृढ़ होनी चाहिए बोले सुनिश्चिता ये पक्की बात है इसमें निष्ठा विष्ठा की भी अपेक्षा नहीं है बोले भाई कुछ भी हो शांति तो मिलनी चाहिए बोले अरे बाबा है ना शांति मांगते मांगते लोग मर गए नहीं मिली है ना एक अपेक्षा होती है वो आत्मा स्वभाव से शांत है वो मृत्यु में भी शांत है जन्म में भी शांत है सृष्टि में भी शांत है प्रलय में भी शांत है है ना है मालूम पड़े तब भी शांत है न मालूम पड़े तब भी शांत है शांति अपना स्वरूप है और जो दूसरे के घर से मांग के उधार शांति लाना चाहता है है ना हे पैसा हमको शांति दो हे मकान शांति दो हे मोटर शांति दो है ना एक लड़की ने किसी से ब्याह किया मोटर देखे हो थोड़े दिनों में मोटर बिक गई अब वो तो सिर पीटे कि हम धोखे में पड़ गए तुमने हमको मोटर दिखा के ब्याह कर लिया <laughs> अब मोटर से प्रेम हुआ है ना तो जो लोग महाराज समाधि देख के प्रेम करते हैं है ना निष्ठा बनाते हैं शांति कहाँ मिलेगी बोले समाधि में बोले यहाँ नहीं मिलेगी हो जब वहां जाएंगे तब मिलेगी अरे यहाँ तो तुम शांति हो तो, तो तुमको मिली नहीं है ना और पराई कोई शांति है और वो तुमको मिलेगी तो ये आत्मदेव जो है ये स्वयं शांति स्वरूप है उत्पाद्य शांति नहीं है शांति हम पैदा करेंगे तब मिलेगी सो नहीं है हम स्वयं शांति हैं तो मृतत्वाय कल्पते हम स्वयं अजर अमृत हैं है ना मोक्ष हमको किसी से उधार नहीं लेना है बोले नहीं शांति तो जरूर चाहिए बोले तुम आदि शांत हो है ना देखो मशीन घूम रही आदि शांत देखो आदि बुद्ध हो आप ध्यान में देना देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय हो तुम ये बात इक्यानवे में श्लोक में बताई गई देश काल वस्तु सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अपरिच्छिन्न अनादि हो तो ये बात पहले श्लोक में बताई गई और ज्ञान स्वरूप है ना स्वयं दृढ़ निष्ठा स्वरूप शांति स्वरूप अमृतत्व स्वरूप तुम हो ये बात बांधे में श्लोक में कही गई और आदि शांता उत्पन्ना प्रकृत वसु निर्भृता आदिशांत स्नापी शंकराचार्य भगवान कहते हैं ना भी शांति कर्तव्यता आत्मनि हम शांत हो जाए ये कोई कर, कर जोग करेंगे तब शांत होंगे उपासना करेंगे तब शांत होंगे है ना धर्म करेंगे तब शांत होंगे अरे ऐसा ज्ञान होगा तब शांत होंगे है ना अरे हमारे सामने तो कितनी बार अशांति आई और मर गई हो है ना हम जो कि है ना ये ऐसी शांत ज्योति है ये ऐसी दिव्य ज्योति है ब्रह्म ज्योति है आत्म ज्योति है कि इसके सामने शांति और शांति के अभाव का कोई द्वंद्व नहीं आदि शांत है आदि शांत का अर्थ आप समझ गए जो शांति किसी कर्म से किसी अभ्यास से किसी उपासना से पैदा होती है है ना है ना वो शांति आदि शांति नहीं है तुम आदि शांत हो और अनुत्पन्न हो अजन्मा हो और स्वभाव से ही सुनिर्भता बोले भाई परमानंद की प्राप्ति चाहिए परमानंद की नारायण कहो जब परमानंद को तुमने अपने से अलग कर दिया तो क्या आके वो तुम्हारी है ना तुम्हारा चरण दबावेगा तुमने खुद ही तो अपने में से परमानंद को निकाल के फेंक दिया है ना अब रोते हो महाराज बड़ी गलती हुई बड़ी गलती हुई क्या हुआ क्या हमने अपनी घरवाली को निकाल दिया हमने अपने बेटे को निकाल दिया है ना हमने अपने हाथ से रुपया फेंक दिया और उसके बाद रोते हैं इस शांति को इस निर्वृति को इस परमानंद को अपने से जुदा समझना अगले मिनट में मिलेगा अभी नहीं है है ना एक कदम चलेंगे तब मिलेगा यहाँ नहीं है है ना वो चीज मिलेगी तब होगा वो स्थिति होगी तब होगा सब झूठी बात है इसमें एक देखो नारायण बात क्या है कि ये जो हमको इच्छा होती है ना कि ये मिले और ये न मिले इसके मूल में बाहर के पदार्थ ही कारण हैं ऐसा चार बाग बोलता है हो है ना और हमारे चित्त का विज्ञान ही कारण है जिसको हम अच्छा समझते हैं उसको चाहते हैं और जिसको बुरा समझते हैं उसको नहीं चाहते हैं देखो इच्छा के शांत होने की दो पद्धति हुई एक तो जड़ वस्तु मिले तब हमारी इच्छा शांत होए और एक हमारी बुद्धि ठीक हो कि अरे बाबा जिसको तुम अच्छा समझते हो अच्छा नहीं है क्यों उसके लिए इच्छा करते हो और जिसको तुम बुरा समझते हो बुरा नहीं है क्यों परहेज करते हो है ना बुद्धि ठीक हो तब ये लौकिक समृद्धि इसको बोलते हैं लौकिक समृद्धि बुद्धि ठीक करने से इच्छा शांत होगी ये साधना अभ्यास है हो है ना और द्रव्य प्राप्ति से इच्छा शांत होगी ये लौकिक दृष्टि है चारवाक दृष्टि है और अपना जो अनंत आत्मा है उसमें न तो न तो भिन्न भिन्न विषय का भिन्न भिन्न विज्ञान है और न तो भिन्न भिन्न विज्ञान के अनुसार भिन्न भिन्न विषय है एक अखंड तत्व में एक अखंड वस्तु में नारायण स्वाभाविक निर्वृत्ति है आवरण है ही नहीं सुख ही शांति ही शांति है इसलिए जितने मैं है ना ये सब शरीर में जो मैं मैं बोलता है उसका नाम है धर्म हो है ना शरीर के बहुवचन के कारण उसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं इस सेतु विधारणा नारायण और जो सब मैं मैं में एक है देह की उपाधि से मैं अलग अलग मालूम पड़ते हैं परंतु सब में मैं एक है वो सम है और अभिन्न है अजन्मा है साम्य है और विशारद है इसके बाद जो लोग भेदवादी हैं उनकी निंदा बोलते हैं वैशारद्यंत वही नास्ती भेदे विचरताम सदा भेद निम्ना पृथकवादा तस्मात्ते कृपणा स्मृता जो लोग भेद बुद्धि में ही भेद माने तोड़ फोड़ जिसको आजकल अखबारों में छापते हैं ना तोड़ फोड़ उसी को संस्कृत में भेदन बोलते हैं वो भेदन हथौड़ा मारा और एक चीज थी दिल मिल गया था और टूट गया है ना एक वस्तु थी हथौड़ा मारा और फूट गया ये भेद बुद्धि जो है ये हथौड़ा है हथौड़ा भेदन करे जो एक चीज को तोड़ दे फोड़ दे उसका नाम तोड़ना फोड़ना टूटना फूटना इसका नाम भेद है और तलवार से काट दिया तो छेदन हो गया इसी को बोलते हैं छिन्न भिन्न एक अखंड वस्तु को छिन्न भिन्न करके देखना यही भेद है तो जो लोग भेद में हमेशा विचरते रहते हैं उनका दिल कभी साफ तो होगा नहीं स्वच्छता सफाई तो उनके दिल में आवेगी ही नहीं तो क्यों बोले एक को मलिन समझेंगे एक को अच्छा समझेंगे है ना हाँ। इसलिए विशारदता स्वच्छता निर्मलता उनके हृदय में उनके ज्ञान में कभी आवेगी नहीं तो जितने पृथकवाद हैं जितने भेदवाद हैं वो भेद निम्न है भेद के कारण निम्न कोटि के हैं हो छोटी किस्म के हैं है ना महाराज एक बच्चा था है ना उसने एक ध्वनि हाथ में पकड़ी अब बाप दिखावे कि बेटा सौ रुपए का नोट ले ले और ये दुवन्नी दे दे है ना वो कहे नहीं हमको तो दुवन्नी चाहिए तो क्यों बेवकूफी से ना तो ये हम दे रहे समझो हम बता रहे कि तुम ब्रह्म हो और तुम पकड़ क्या रहे बोले शरीर ये ना तो शरीर तो कानी कौड़ी के बराबर भी नहीं है है ना शरीर तो कानी कौड़ी के बराबर भी नहीं है तुमको बता रहे हम ब्रह्म और तुम अपने को कह रहे हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र का एक परिच्छिन्न पुतला पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी नरक स्वर्ग पुनर्जन्म में जाने वाले बोले तस्मात ये कौन से हैं बोले कृपण है ये कृपण शब्द भी श्रुति का है है ना हाँ, ये कार्पण्य जो है ना कार्पण्य दोषो दोषोपहत स्वभाव गीता का जो वही एक दक्षरंगार्गी अविदित्वा अस्मालोका प्रति सकृपण कृपण तस्मात कृपण स्मृता अब एक बात बताते हैं इस श्लोक की व्याख्या में शंकराचार्य भगवान ने एक बात ऐसी कही है जो आपको सुनाते हैं अजय साम्य तुझे केचिद भविष्यंती सुनिश्चिता ते ही लोके महाज्ञाना तच्च लोको न गाहवे अब ज्ञानी की जैसे अज्ञानी की निंदा की ना कि वो कृपण है कृपण है माने छोटी चो चीज को वो छोड़ने को तैयार बड़ी चीज मिल रही है है ना बड़ी चीज मिल रही है पर वो छो, छोटी चीज को छोड़ने को तैयार नहीं है ना अपनी पकड़ अपना धर्म अपना कर्म अपना संप्रदाय नारायण है ना और क्या पूछना है वो पकड़ के बैठे हैं बच्चे इन्हीं को कृपण ये कृपण है असल में ये कृपण जो है ये कृपाण ही है कृपाण तो आप जानते हैं ना सिखों के हाथ में जो होते ये कृपणता जो है ये अपने को काटने के लिए खुदकुशी करने के लिए कृपाण है जो श्रीमद भागवत में आया है ना चील आपस में लड़ रहे हो एक चील के मुंह में मांस का टुकड़ा था तो दूसरे चील पक्षी उसके ऊपर झपटे खूब लड़ाई हो तो महाराज उधर से दत्तात्रेय जी महाराज निकले अब देखा करे ये बेचारा अकेला चील क्यों तकलीफ में पड़ा है बोले बहुत से चील इसके ऊपर झपट रहे हैं है ना इतने में चील को क्या सदबुद्धि आई कि उसने मांस का टुकड़ा नीचे फेंक दिया नीचे फेंक दिया तो सब चील मांस के टुकड़े की तरफ झपटे और वो जाके शांति से पेड़ पर बैठ गया खूब आनंद में आ गया तो जो लोग दुनिया के एक एक भाव को पकड़ करके बैठे हैं वही तकलीफ पा रहे हैं संसार में जितना कष्ट है वो कृपण को ही है अज्ञान बस छोटी छोटी चीजों को पकड़ लिया और यदि कोई महाराज अज और शाम में तब तो जो है ना अजन्मा आत्मा और सब में सम एक सरीखा क्या जागृत क्या स्वप्न क्या सुसुप्ति तुरियम त्रिशु संततम उसमें व्याप्य व्यापक भाव बिल्कुल नहीं बोला व्याप्य व्यापकता मिथ्या अन्वय व्यतिरेक नहीं किसका किसमें अन्वय हो द्वैत ही नहीं बोले रज्जू का सर्प में अन्वय है नारायण कहो सर्प ही नहीं उसमें अन्वय कहाँ से होगा क्या सर्प से रज्जू का व्यतिरेक है बोले जब सर्प ही नहीं तब उससे व्यतिरेक क्या होगा ये जो प्रपंच है इसमें न आत्मा का अन्वय है और न तो आत्मा इससे व्यतिरिक्त है हो न आत्मा करता है और न तो ये कर्म है प्रपंच न आत्मा भोगता है न तो प्रपंच भोग्य है न तो आत्मा दृष्टा है और न तो ये दृश्य है ये तो समझाने के लिए ये सब के दृष्टा दृश्य भोक्ता भोग्य आनंद के दो विवर्त हैं भोगता और भोग्य चेतन के दो विवर्त हैं ज्ञाता और ज्ञेय दृष्टा और दृश्य सत्ता के दो विवर्त हैं कर्ता और कर्म और कुल मिला करके इसका नाम हुआ अज्ञान और सच्चिदानंद घन प्रत्यक्ष चैतन्य में कि ये विवर्त जो है विरुद्ध वर्तान अपने स्वरूप से विरुद्ध भाषणा वो है ही नहीं तो महाराज जो कोई निश्चय करके बैठ जाए अपना आत्मा आज साम्य ये भी सांप्रतिक सत्य है ते ही लोके महाज्ञाना तत्च लोको न गाहते तो कहते जे केचित भविष्य पर शंकराचार्य भगवान ने कहा जे केचित स्त्रियादय हाँ, पढ़ लेना हो नारायण ना। जिनके पास आनंद आश्रम की पुस्तक हो शंकर भाष्य नारायण गीता प्रेस वाली हो है ना दोनों में शंकर भाष्य तो वही है तो जे केचित स्त्रियादया इसका ये मतलब नहीं है कि पुरुष को ही ज्ञान होता है स्त्री को भी ज्ञान होता है बिल्कुल स्पष्ट आ गया ना शंकर भाष्य में ये शब्द आ गया ना जो लोग कहते हैं कि स्त्री को मुक्ति नहीं होती स्त्री को ज्ञान नहीं होता नारायण ये बात तो शंकर भाष्य जे केचित भविष्यंती सुनिश्चिता जो कोई इस परमार्थ तत्व के संबंध में निश्चय करेंगे एवं एवेति जे केचित स्त्रियादयो की सुनिश्चिता भविष्यंती आदि शब्द से क्या लेना है ना जो जगदोपवीत संस्कार रहित है ना वर्ण बाह्य है द्विजाति बाह्य है वे भी यदि गुरु की कृपा से है ना भाषा में अपनी भाषा में बोला चाहे कोई भी भाषा हो अपनी भाषा में है ना यदि इस ज्ञान को प्राप्त कर ले तो ते ही लोके महाज्ञाना उनको संस्कृत न जानने के कारण नहीं कहना कि अज्ञानी है बोला उनको वेद न पढ़ने के कारण नहीं कहना कि अज्ञानी है किसी भी भाषा में है ना अगर गीध को गीध की भाषा में ये ज्ञान हो जाए कि मैं परिच्छिन्न जीव नहीं हूँ ब्रह्म हूँ तो क्या गृद्ध मुक्त नहीं होगा है ना अरे वो तो पहले से ही मुक्त है वो बंधन की तो भ्रांति थी है ना तो बंधन की तो भ्रांति थी तो तच्च लोको न गाहते वो जो परमार्थ तत्व विदित महाज्ञान तत्व है ना उसको दुनियादार लोग उसकी था नहीं लगा सकते है ना सच्च लोगो न गाहते अथाह है अगाध है न गाहते नाव तरोती नाव तरती न विषय करोते है ना कोई उसको विषय नहीं कर सकता शंकराचार्य ने डेढ़ श्लोक उद्धृत किया है सर्वभूतात्म भूत सर्वभूत ही तस्य जो देवा मार्गे मुह्यंती अपदस्य पदिण जिसने संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा को जान लिया जो सर्वरूप है उसको कौन सा ज्ञान हुआ भाई किस रास्ते से चल रहा है बोले देवता लोगों को इसका पता नहीं चलता है ना अपदस्य पदयशीण देवता लोग देखते रहते हैं कि ये ज्ञानी महापुरुष जब स्वर्ग में होके ब्रह्मलोक की ओर जा शक्ति तो ऐसा ये तत्व ज्ञान है ये साधारण दृष्टि से इसका अवगाहन नहीं होता असाधारण दृष्टि से इसका अवगाहन होता है अच्छा भाई हमको जाना है आज एक जगह क्या तो क्या की सूचना विश्व पश्यन्नात्मविनाययामेव यथा भविष्य यतो न क्रमते ज्ञानम् असङ्गम् तेन कीर्ति अणुमात्रे वैधर्म्ये जायमाने पश्चितः असंगता सदा नास्ती किं तावरणच्युतिः अलब्धावरण सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला आदौ मुक्ता बुद्धियन्त नायका क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मे सुतायिना सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम् दुर्दर्शमतिगम्भीरम् अजं साम्यं विशारदम् बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथावलम् आपने देखा क्या संक्षेप में बोलने की रीति है कि वस्तु का चार विभाग कर दिया हे गीण आप्य और पाक्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्था एक दूसरे से अलग अलग हैं और तीनों का साक्षी आत्मा इनसे अलग है तीनों का अधिष्ठान ब्रह्म इनसे अलग है साक्षी ब्रह्म एक है जो साक्षी सो ब्रह्म जो ब्रह्म सो साक्षी देश काल वस्तु का भी साक्षी और अधिष्ठान इसको जरा फैला के समझना पड़ता है तो जब जिज्ञासु मनन करने लगता है ना कि देश क्या है काल क्या है वस्तु क्या है उसका मैं साक्षी कैसे हूं या उसका अधिष्ठान क्या है तो बात सब अपने आप खुलते हैं और मनन न हो तो वो पोथी में लिखा रह जाता है दिल की पोथी रीति रह जाती है तो हेय है अपने से अतिरिक्त जो भासता है वो सब हेय है विज्ञेय क्या है कि स आत्मा सब विज्ञेय श्रुति ने कहा अपना आत्मा विज्ञेय है तो विज्ञेय कहने का अर्थ भी घट पटादी के समान विज्ञेय नहीं है आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य स आत्मा सविज्ञेय वहां उसका अभिप्राय ये बताया कि अनात्मा न विज्ञेय तुम अपना जोर अनात्मा को जानने में मत लगाओ क्योंकि आत्मा विज्ञान का विषय नहीं है तो विज्ञान का जब विषय नहीं है तो उसका विज्ञान होगा क्या बोले तो जो तुम्हारा विज्ञान विषयों में व्यस्त हो रहा है विक्षिप्त हो रहा है उसको छोड़ दो तुम तो स्वयं विज्ञान स्वरूप हो फिर दो बात बताई कि आप भी और पाक के तो श्रवण मनन निधि ध्यासन ये गुरुदेव से प्राप्त करो और जो दोष दुर्गुण हैं राग द्वेष आदि उनको निकाल के फेंकना नहीं है उनको भीतर ही भीतर रसायन बना लेना है उनको पका लेना है जब तक चीज कच्ची होती है तब तक वो कड़वी होती है बेस्वाद होती है पक जाने के बाद तो वो स्वादिष्ट हो जाती है तो तत्वज्ञानी के अंतकरण में जीवन पर्यंत है ना जो अदृढ़ राग द्वेश आदि के संस्कार प्रतीत होते हैं वो भी कच्चे नहीं होते हैं कच्ची चीज खौलती जल्दी है हो और पकी चीज जो है वो खौलती नहीं है दूध जब तक कच्चा रहता है जब तक उसमें उफान आता है जब पक जाता है जब उफान नहीं आता हम बचपन में वो गुड़ पकाना होता था ना अपने यहाँ तो देखते थे कड़ाहे में रस चढ़ाया गया पहले उसमें मैल निकलता है उसके बाद वो उछलने लगता है फिर उसमें बड़ा उफान आता है लेके सही की बस अपन तो आध घंटे लगे रहते थे उसमें कि गिरने न पावे जब गाढ़ा हो जाता था तब उफान आना बंद हो जाता था यही पाक का लक्षण है दोषों का परिपाक हो गया तो उपहार नहीं आएगा वो दोष भी मीठे हो जाएंगे तो दोषों का परिपाक हो जाए श्रवण मनन आदि की प्राप्ति हो जाए निर्विद्य निर्विद्य माने प्राप्ति पांडित्यम निर्विद्यम बाल्य नतिष्ठा से बाल्यम निर्विद्य मौन नतिष्ठा से और विज्ञान स्वरूप अपना आत्मा तो इसमें क्या श्रुति बैठाई है प्रकृत्या आकाशवज्ञेय सर्वे धर्म अनादय आकाशवत सर्वगत नित्य आकाश जैसा देश से अपरिच्छिन्न तो व्यापक नहीं बोला व्यापक व्याप्य भाव तो बहुत सांवृतिक है अत्यंत सांवृतिक है जैसे लोहे के गोले को आग में डाल दो और आग उसमें व्याप्त हो गई तो आग व्यापक और गोला व्याप मतलब ऐसे संसार में परमात्मा व्यापक है सो बात नहीं वो तो जैसे मिथ्या प्रतीयमान सर्प में रज्जू है है ना उसके सिवाय रज्जू के सिवाय सर्प कुछ है ही नहीं है ना ऐसी व्यापकता और अनादय से काल परिच्छेद को काट दिया और नानात्व से वस्तु परिच्छेद को काट दिया और आदि बुद्धा से ज्ञान स्वरूप बताया ज्ञेयता भी वास्तविक नहीं और सुनिश्चिता से का ये बात बिल्कुल ज्यो की त्यों ऐसी है इसमें निष्ठा की भी अपेक्षा नहीं कि बोले भाई कोई अपराध करे तो क्षमा करो बोले आत्मा तो सहज स्वभाव से ही क्षमाशील है नारायण शांति तो आत्मा का स्वभाव ही है ये बनावटी क्षांति उत्पाद्य क्षांति अब ऐसे बनावटी शांति आती नहीं है बनावटी क्षमा नहीं आती है वो किसी से हम कहें कि हे देखो तुम हमको गाली दो हो तो हम सहने की आदत डालें उस गाली में तो कोई दुख ही नहीं है सहोगे क्या वो तो अपने हुक्म से आई है जब कोई अनजान आदमी गाली दे ना हाँ, हाँ। तो सहज स्वभाव क्या है सोमृतत्वाय कल्पते जो सहज स्वभाव से क्षमा है जैसे आकाश जो है ना आई हुई आंधी को क्षमा करता है है ना और आई हुई रात के अंधकार को क्षमा करता है अंधकार का तमस आया और आकाश उसको क्षमा करता है कि लड़ाई करता है उससे ये आकाश की स्वाभाविक क्षमा है और आकाश में रजोगुण की धूल से भरी हुई आंधी आई विक्षेप आया विक्षेप की आंधी आई आकाश उसको क्षमा करता है कि नहीं यही च निवृत्ति क्या है प्रकाशंच च मोह में वच पांडव न द्वेष्टि प्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षती एक दिन आके एक ने बड़ा प्रेम किया दूसरे दिन उसने बड़ी गाली दी है ना नारायण अब प्रेम करने के दिन प्रेम कर गया गाली देने के दिन गाली दे गया है ना स्वभाव से अपने स्वरूप में जो बैठा है उसके लिए क्या प्रशंसा और क्या निंदा तो ये अमृतत्व की योग्यता बताई तो आदि बुद्धा ये ज्ञान स्वरूप है इसमें ज्ञान भी प्राप्त करना नहीं ये अभिचल निष्ठा है इसमें निष्ठा बनावटी नहीं इसमें क्षमा सीखना नहीं ऐसा सहज स्वभाव से आदि शांता अनुत्पन्ना आदि शांत माने एक शांति वो होती है जो विक्षेप के साथ आती है आदि शांत का अर्थ क्या हुआ एक बार विक्षेप हुआ फिर शांति हो गई मन में क्रोध आया बड़ा उबाल आया हो और फिर चार गाली किसी को दे दी तो थोड़ा संतोष हुआ कि अच्छा बच्चू से अच्छा बदला लिया है ना तो ये जो शांति आती है ये झूठी है बोला शांति आदि शांति है आत्मा में आदि शांति है आदि शांति का अर्थ है आप देखो काम मन में आवे तो स्त्री का आकार चित्त में आवे क्रोध मन में आवे तो शत्रु का आकार चित्त में आवे मोह मन में आवे तो परिवार का आकार चित्त में आवे लोभ मन में आवे तो धन का आकार चित्त में आवे और काम का के अभाव में क्या रहेगा शांति और क्रोध के अभाव में क्या रहेगा शांति लोभ के अभाव में क्या रहेगा शांति मोह के अभाव में क्या रहेगा शांति तो सबके अभाव सबका अभाव अविशेष होने के कारण है ना अभाव में विशेषता नहीं होते घड़ा हटा दिया तो दूसरा अभाव और कपड़ा हटा दिया तो दूसरा अभाव नहीं कपड़ा और घड़ा अलग अलग है लेकिन दोनों के हटाए देने पर जो अभाव है सो तो एक ही है ना तो क्रोध के अभाव से उपलक्षित शांति काम के अभाव से उपलक्षित शांति क्रोध के अभाव से उपलक्षित शांति मोह के अभाव से उपलक्षित शांति विक्षेप के अभाव से उपलक्षित शांति वो शांति जो काम क्रोध लोभ मोह इनके आने के पहले भी थी और जब वो आए तब भी मौजूद थी और जब चले गए तब भी मौजूद थी न द्वेष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षति ये आत्मा का स्वरूप हो सर्वे धर्म आजा सर्वे धर्मा समाभिन्ना अजम साम्यम विशारदम ये आत्मा तो साम्य है स्वयं प्रकाश है जन्म मृत्यु से रहित है अभिन्न है और सम है अब भेदवादियों की निंदा भी बताई कि जो लोग महाराज भेद ही में विचरते रहते हैं दिन रात ये अपना ये पराया स्व पर बोले उनके बोध में स्फुटता नहीं है विशारदता नहीं है जितने भेदवादी हैं वो भेद के कारण निम्न गति को प्राप्त हो रहे हैं इससे उनको कृपण बोलते हैं ये भी वेद की बात वेदांत की बात बता, बता दी वो कृपण है और महाराज संसार में जो महाज्ञानी है वो साम्य अज में सुनिश्चित है उनका आत्मा है साम्य अज वही महाज्ञानी है और संसारी लोग उसके स्वरूप को नहीं समझ सकते अब इतनी बात कहने के बाद एक प्रश्न उठाते हैं कि तुमने तो प्रतिपादन किया अभेद का और तुम्हारे प्रतिपादन में ही भेद भरा हुआ है क्या भेद भरा हुआ है कि अजम साम्यम अज कैसा है बोले साम्य है तो ये तो जाना जाएगा ना तो प्रमेय हुआ कौन का शाम साम्य आत्मा ब्रह्म ये हुआ ज्ञेय और उस ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप का निश्चय जिस अंतकरण में होगा उस अंतकरण में बैठा हुआ ज्ञाता जीव है और उस प्रकार का जो निश्चय ज्ञान है वो प्रमाण है तो प्रमाण और प्रमेय और प्रमाता इनकी त्रिपुटी तो यथावत बनी रही तो वस्तु परिच्छेद कथम महाज्ञान जब वस्तु का परिच्छेद है एक प्रमाता है एक निश्चय ज्ञान है और एक उसका प्रमेय है तो ये त्रिपुटी हो गई ना ज्ञाता ज्ञान ज्ञान ज्ञे की त्रिपुटी तो बोले नहीं असल में एक ही ज्ञान है अजेसु अजम असंक्रांतम धर्मेशु ज्ञान मिश्यते आत्मा अजन्मा है उसका ज्ञान भी अजन्मा है अजेसु धर्मेशु अजम ज्ञानम आत्मा भी अजन्मा और ज्ञान भी अजन्मा अर्थात आत्मा और ज्ञान दोनों एक इसलिए असंक्रांतम न ज्ञान आत्मा में जाता है न आत्मा ज्ञान में आता है ज्ञान ही आत्मा है ऐसा अपना सिद्धांत है सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम ऐसा ज्ञान जो ज्ञे को अलग न बनावे और ज्ञाता को अलग न बनावे ये ऐसा होता है लौकिक ज्ञान की पद्धति ये है कि जैसे हम ये घड़ी देखते हैं तो घड़ी हुई ज्ञेय जानी गई ज्ञान का विषय और अंतकरण और नेत्र आदि जो ज्ञान के करण हैं साधन हैं ये हुए ज्ञाते अनेन इति ज्ञानम ज्ञान साधनम ज्ञान करणम और इस ज्ञान का अंतकरण का जो धर्मी बना अभिमानी बना अहम नेत्र द्वारा घटी यंत्रम जाना में मैं नेत्र आदि के द्वारा करणों के द्वारा घटी यंत्र को जानता हूं तो ये जो घड़ी का ज्ञान हुआ इसने तीन टुकड़े अपने को किया एक टुकड़े में वो गेय हो गया इदम और एक टुकड़े में वो अहम ज्ञाता हो गया ज्ञाता इदम जो है वो गेय हुआ और अहम ज्ञाता हुआ और बीच में ज्ञान जो है वो स्वयं करण बन के गौण बन के बीच में बैठ गया तो बोले ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा ही है वो नहीं ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं है ये जो घटी यंत्र में ज्ञेय आकार है और जो अंतकरण नेत्र आदि में करणाकार है बोला करणत्व है और जो प्रमाता में ज्ञाता में प्रमातृत्वाकार है ये तीनों जो पृथक पृथक भासने वाले आकार हैं ये एक ही ज्ञान तीन रूप धारण करके भास रहा है बोले धारण करके भास रहा है का नहीं जब तक ये त्रिपुटी मालूम पड़ती है तब तक इसका अध्यारोप ज्ञान में करते हैं और फिर इसका अपवाद कर देते हैं तो त्रिपुटी के अध्यारोप का अधिष्ठान और त्रिपुटी के बाध का अधिष्ठान है ना और त्रिपुटी का स्वयं प्रकाशक प्र, स्वयं प्रकाश प्रकाशक ये आत्मा है तो ये बात जो है वो इस प्रकरण के प्रारंभ में ही कही गई थी कि ज्ञाने नाकाश कल्पे न धर्मान जो गगनोपमान गेया भिन्ने न संबुद्ध स्तम बंदे द्विपदाम बरम ज्ञान भी आकाश ज्ञे भी आकाश और ज्ञाता भी आकाश और आकाश माने जड़ आकाश नहीं चिदाकाश और वो चिदाकाश जिसमें काल है ना क्रम की संबित से निश्चित किया हुआ काल जिसमें कल्पित है दैर्घ्य विस्तार की कल्पना से है ना निश्चित की हुई जो देश की संबित है वो जिसमें कल्पित है और घटपट आदि जो वस्तु भेद है उनकी भिन्नता से कल्पित की हुई जो द्रव्य संबित है वो जिसमें कल्पित है ऐसा जो चिदाकाश हाँ, चित काल चित देश चिद वस्तु में से देश काल वस्तु का अपवाद करके केवल चित चित चित और एक नहीं अद्वय चित्त हाँ, एक में और अद्वय में फर्क है इसको हम ज्ञान कहते हैं इसका नाम हमारे ज्ञान है सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म तो अजेशु धर्मेशु अजम असंक्रांतम ज्ञानम ईश्यते अज जो आत्मा है महान हाँ। ज्ञान स्वरूप उसमें ये अजन्मा ज्ञान जो है वो असंक्रांतम ईश्वत है ये कोई वृत्ति आदि की प्रणाली से जा करके उसके साथ एक होता हो सो बात नहीं वो स्वयं है बोले फिर अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य वृत्यारूढ़ हो करके है ना विषय अवच्छिन्न चैतन्य से जा करके एक होता है ये सब क्या है बोले ये लौकिक दृष्टि से जैसी प्रतीति है सांप्रतिक सत्य है उसका अनुवाद है जतो न क्रमते ज्ञानम असंगम तेन कीर्तितम क्योंकि ये ज्ञान दूसरे किसी के पास जाता ही नहीं है विज्ञानवादी ऐसा मानते हैं कि ये जो हमको घड़ी दिख रही है ना ये घड़ी हमको जो दिखती है वो बाहर नहीं दिखती है हमारे अंतकरण में ही दिखती है अच्छा तो बोले कि फिर बाहर तो है ना बाहर है तब ना अंतकरण में दिखती है बोले अरे भाई बाहर भी अंतकरण में ही दिखता है, हैं? तो बोले ये शरीर है और ये शरीर का बाहर है और ये बाहर घड़ी है का ये का ये भी अंतकरण में ही दिखता है बोले अंतकरण और बहिकरण ये दो चीज तो होगी कर नहीं ये भेद भी विज्ञान ही है विज्ञान से पृथक न शरीर है न घड़ी है तो बोले कि ये तो ठीक है तुम्हारा है ना असंक्रांतम माने विज्ञान कहीं जाकर किसी को नहीं देखता स्वयं स्वस्वरूप में रह करके ही है तत्दाकार तत्दाकार परिणाम को प्राप्त होता रहता है चित्त का परिणाम है तो इसी युक्ति से आचार्य ने फिर खंडन किया कि जिस जुक्ति से तुम बताते हो कि विज्ञान से अलग घड़ी नहीं है उसी जुक्ति से हम ये बताते हैं कि आत्मा से अलग चित्त नहीं है ठीक यही उन्हीं की जुक्ति है ना ये कहीं कहीं शब्द साम्य इसको बहुत बड़ी प्रौढ़ी मानी जाती है और शास्त्र की रीति से कि हमारे प्रतिपक्षी ने जिन शब्दों से अपने अभिप्राय को सिद्ध किया और जिन जुक्तियों से अपने अभिप्राय को सिद्ध किया